नैना ने फिर विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और बेहद खुशी मन से उसे लेकर हॉल में पहुंच गई मैं खुद इस घर में ज्यादा नहीं रही हूँ ये मेरा पुराना घर है मैं तो हमेशा से मुंबई वाले घर में ही रही हूँ ओ विक्रांत ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने चारों तरफ मौजूद गेस्ट पर एक नजर डालते हुए कहा अच्छा तो फिर यहाँ रहता कौन है कोई नहीं मॉम डैड तो बाहर ही रहते हैं बस कुछ सर्वेंट रहते हैं यहाँ जो यहाँ की सफाई वगैरह करते हैं मैंने ने कहा यह बंगला तो मेरे डैड को गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड के तौर पर मिला था जब वो काफी यंग थे तभी उन्हें ये बंगला मिल गया था अब बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हैं ओ लेकिन बहुत बड़ा घर है इतना बड़ा घर कर तो कोई भी आम आदमी पागल हो जाए तुम्हें तो मजे से शो ऑफ करना चाहिए विक्रांत अभी अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है ऐसे में उसने तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए कहा नहीं नहीं नहीं शो ऑफ करने की क्या जरूरत है शो ऑफ नहीं करना चाहिए तुम स्पेशल टीम के टीम लीडर बन गए हो लेकिन अभी भी बेवकूफ़ी वाली बातें ही करते हो नैना ने विक्रांत का गाल नोचते हुए कहा लेकिन अच्छा है तुम ऐसे बुद्ध ही रहो तभी मुझे अच्छे लगोगे अगर तुम्हें भी अकल आ जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा विक्रांत ने मन ही मन बुद्ध बुलाते हुए कहा जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मैंने तुम्हारे डैड को पीटा है तो फिर तुम मुझे और ज्यादा लाइक करने लग जाओगी अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हारी मोम को मैं ज्यादा पसंद नहीं आया विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा नहीं ऐसा नहीं है दरअसल मॉम हमेशा से पुलिस लाइन में थी तो उनके बात करने का लहजा ही ऐसा है वो हमेशा ऐसे ही रहती है सबसे ऐसे ही सीरियस होकर बात करती है नैना ने जवाब दिया और जब तक मैं तुम्हें लाइक कर रही हूँ तब तक मेरी फैमिली का कोई भी कुछ नहीं बोलेगा ये लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं अच्छा ये सब छोड़ो तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ नैना विक्रांत का हाथ पकड़कर हॉल के दूसरी तरफ ले जाकर उसे कुछ दिखाने लगी वहीं उस वक्त हर्ष और अनुष्का वगैरह हॉल के एक कोने में पागलों की तरह बैठे हुए थे उनका चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे मानो वो यहाँ पर प्लेट और चम्मच चोरी करने के लिए आए हुए थे ये सब लोग काफी नर्वस नजर आ रहे थे जबकि रूही बिल्कुल मजे में थी वो बड़े आराम से ड्रिंक और खाने का मजा ले रही थी तो सर ने अपने होने वाले ससुर को ही पीट दिया <laughs> अब सर का क्या होगा जब उनकी गर्लफ्रेंड को ये पता चलेगी तब तो वो उनकी जान ले लेगी <laughs> रूही ने एक से वाइन पीते हुए कहा वो चुप रहो धीरे धीरे बोलो यहाँ इतने लोग हैं किसी ने सुन लिया तो फिर हो गया काम हर्षित ने रूही को चुप कराते हुए कहा यार हमें कुछ करना चाहिए सर की हेल्प करनी चाहिए वो बहुत मुश्किल में है हर्ष ने कहा हम्म यार सही बात सर हम लोगों का इतना ख्याल रखते हैं हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए हर्षित ने भी हर्ष की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन हम करेंगे क्या हम्म, मुझे लगता है कि हमें पहले से ही सर के लिए एम्बुलेंस बुलाकर रखना चाहिए अनुष्का ने सुझाते हुए कहा मान लो इन लोगों ने सर के ऊपर अटैक किया तो फिर कम से कम एम्बुलेंस रहेगी तो हम उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में तो पहुंचा देंगे उधर इस वक्त नैना के पेरेंट्स अभी किसी गेस्ट से मिल रहे थे उसके डैड उस गेस्ट से बात कर ही रहे थे कि तभी नैना की मोम ने उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा सुनो तुम तो कह रहे थे कि लड़का कोई बहुत बड़ा डिटेक्टिव है मुझे तो वो कोई चोर जैसा लग रहा है तुम बताओ भला नैना उससे शादी कैसे कर सकती है उसकी तो छोड़ो जो उसकी टीम वाले लोग आए हुए हैं वो भी तो ऐसे ही दिख रहे हैं भला नैना इन लोगों के साथ कैसे काम करेगी नैना की माँ ने उसके डैड को आंखें दिखाते हुए कहा तुम बात करो नैना से मैं क्या बात करूं तुम जानती नहीं उसे तुम खुद बात करो तुम्हारी बेटी भी तो है नैना के डैड ने अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा हम्म, मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है नैना की मोम ने चिढ़ते हुए कहा तुम दोनों एक दूसरे को देख भी ऐसे रहे थे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो ना है ना क्या बकवास कर रही हो मुझे खुद वो पसंद नहीं है नैना के डैड ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा उस बीच उनका हाथ गालों पर पहुंच गया जहां पर पहले से चोट लगी हुई थी और गाल पर हाथ लगते ही वो दर्द से करा उठे तुम्हें तो पता ही नहीं है अगर मैं इससे खुश हूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं क्या हुआ नैना की माँ को कुछ शक हो रहा था तुम उसे पहले से ही जानते हो क्या हम्म, नैना के डैड ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा और फिर अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहा वो भले ही मेरी बेटी से शादी कर ले लेकिन जो उसने मेरे साथ किया है उसका बदला मैं उससे लेके रहूंगा ओ भाई ये क्या है जब नैना विक्रांत को लेकर अपने बंगले के ठीक पीछे की तरफ बने एक बेहद खूबसूरत घर में ले गई तो उसे देखकर विक्रांत बिल्कुल दंग रह गया आखिर ये क्या है क्या चीज है ये उसने देखा कि वहां पर बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ था <laughs> तुमने यूएफसी के बारे में सुना है ये उसी का कंपटीशन वेन्यू है मैंने ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने के और यू के बारे में सुना है बस यू तो नहीं सुना क्या होता है ये विक्रांत ने बिल्कुल कंफ्यूज होते हुए कहा फिर उसने आगे बताते हुए कहा ये मेरे डैड की नई हॉबी है जब से वो न्यूजीलैंड गए हैं तब से उन्होंने ये एक नया शौक पाल लिया है और आज उन्होंने अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए ये सब अरेंजमेंट किया है यूएफसी को दुनिया का टॉप कॉम्बैट इन्वेंट कहा जाता है इसमें boxing karate judo martial art wrestling Thai boxing और फाइटिंग में जितने भी स्किल का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी का इस्तेमाल इस गेम में किया जाता है मतलब इसे मिक्स फाइटिंग कह सकते हो एक तरह से ये डब्ल्यू का अपग्रेडेड वर्जन है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा फिर उसने आगे बताते हुए कहा आज मेरे डैड और उनके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर वर्ल्ड के कुछ बेस्ट यूएफसी प्लेयर्स को यहाँ पर कंपटीशन के लिए बुलाया है अभी देखना यहाँ कितना मजा आएगा क्या बवाल है ये सब अमीर लोगों के भी कितने अजीब शौक होते हैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए और हल्की सांस छोड़ते हुए कहा ठीक इसी समय यहाँ हॉल में एक एक करके सारे गेस्ट पहुंचने लग गए उन सभी ने अपने हाथ में फोन भी पकड़ रखा था और वो लोग सेल्फी क्लिक करते हुए यहाँ आ रहे थे तुम्हारे डैड ऐसे क्यों हैं? विक्रांत ने सवाल किया और फिर उसने कुछ ही सेकंड में अपना सवाल बदलते हुए कहा वो भी पहले फाइटिंग सीख चुके हैं क्या मतलब उनकी फाइटिंग स्किल अच्छी है हाँ बिल्कुल ये भी पूछने वाली बात है क्या नैना ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही जवाब दिया जब मेरे डैड यंग थे तो तब वो सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करते थे और उस टाइम उनकी फाइटिंग स्किल बहुत गजब थी उनके डिपार्टमेंट वाले तो आज भी उनकी फाइटिंग स्किल की वजह से पापा को जेम्स बॉन्ड बोलते हैं लेकिन अभी जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई और वो थोड़ा ओल्ड हो गए हैं तब से तो मैंने उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा